अट्ठारहवीं उनकी वाबस्तगी उनकी रहमत और उनके जज्बात में मोमिनीन की मिसाल जिस्म की तरह ही जब वो इसके बारे में शिकायत करता है इसका एक मेंबर रू की खातिर खातिर